और जब उनकी निगाहें आग वालों की जानब फेर दी जाएंगी वो कहेंगे ए हमारे रब हमें इन जालिम लोगों के साथ न करना